समादरणीय विद्वदगण मातृशक्ति हम अब मंत्र का पाठ मिलकर के करने का प्रयास है लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है अर्थात एक अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है समस्त प्राणी मात्र में मनुष्य पशु आदि सभी प्राणियों में दो प्रकार की प्रवृत्ति चेष्टाएं देखी जाती है अर्थात वो दो लक्ष्यों को पूरा करना चाहता है ये प्रत्येक प्राणी में होता इसमें मतभेद नहीं मिलेगा चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी मत को मानने वाला हो इसमें मतभेद नहीं मिलेगा मोटी भाषा ये है कि वो समस्त दुखों से छूटना चाहता है बंधन दुख कलेश अशांति पराधीनता से छूटना चाहता है इसमें मतभेद नहीं मिलेगा एक ही मत एक ही राय होगी एक दूसरा लक्ष्य इसका यह रहता है नित्य सुख दुख रहित सुख पूरी स्वतंत्रता स्थायी सुख बाधा रहित स्थिति को प्राप्त करना चाहता है ये दूसरा प्रयोजन है इन दोनों प्रयोजनों में दोनों लक्ष्यों में किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति का मतभेद नहीं मिलेगा चाहे किसी मत का मानने वाला अब एक और बात यदि हम दो बातों को और जोड़ दें इनके साथ में तो पूरे विश्व की व्याख्या हो जाएगी और व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं प्रथम प्रवृत्ति चेष्टा प्रयास उसका यह है कि मैं समस्त दुखों से कलेशों से बंधनों से बाधाओं से पार हो जाऊं ये उसकी हृदय की इच्छा है वो यही चाहता है परंतु जिस समय वो इस समस्या का समाधान करना चाहता है उसमें एक बात उपस्थित हो ही जाती है कि जैसे वो बंधनों से दुखों से कलेशों से छूटना चाहता है उसके कलेशों के उत्पादक उत्पन्न करने वाले बाधकों कारणों से भी छूटना चाहता है ये दूसरी बात आ गई जिससे कलेश उत्पन्न होता है बंधन उत्पन्न होता है बाधा होती है उस कारण से भी छूटना चाहता है हम कल्पना करें कि कांटे का जो दर्द हुआ कांटे के दर्द से छूटना चाहता है परंतु जिस कांटे से दर्द हुआ है उस कांटे को भी दूर करना चाहेगा वो बात तो स्पष्ट समझ में आती होगी या कुछ नहीं आती अब ध्यान देना है कांटे का जो दर्द है उसे हम सब छूटना चाहते हैं परंतु तो कांटे के दर्द से हम छूटना चाहते हैं तो कांटे से भी छूटना चाहते हैं हम एक नियम है दार्शनिक कारण भावात कार्य भाव है ये दर्शन का नियम है जैसे विज्ञान के भौतिक विज्ञान के नियम कारण होगा तो कार्य होगा ये नियम है कारण भावात कार्य भाव यदि कांटा होगा तो दुख होगा जिसको कोई हटा नहीं सकता फिर उल्टा नियम बनाया यानी एक नियम और बना दो कारण अभाव कार्य अभाव है ये भी समझ में आ गया होगा वशिष्ठ के दर्शन चला कारण का भी अभाव हो जाता है तो कार्य का भी अभाव हो जाता है यदि कांटे का अभाव हो जाए तो कांटे से होने वाले दर्द का भी अभाव हो जाएगा ठीक लग रहा होगा नहीं देख लीजिए कांटे के दर्द का भी अभाव हो जाएगा पर याद रखना कारण परंपरा में कई बार एक कारण नहीं होता दो या तीन भी कारण परंपरा में होते हैं इन्हें कांटा हट जाने पर भी ये नहीं मानना चाहिए कि कारण हट गया है क्या करेगा कहता है जिन शाखाओं में कांटे लगते हैं बबूल की करा दी वो वो कांटा तो उठा के हमने जला दिया गाड़ दिया परंतु और कांटे उत्पन्न होकर फिर आ गए कहने लगे ये क्या बात है कहने लगे यहाँ पर भी कारण है कोई कांटा जिससे उत्पन्न होता है वो शाखाओं में उत्पन्न होता है वृक्ष की उसने शाखाओं को तोड़ मोड़ के जला दिया भूमि गाड़ दिया रात बना दी फिर भी वो फिर शाखाएं आ गई फिर कांटे आ गए वो कहने लगे आगे बढ़ो परंपरा में चलो ये आगे बढ़ जाओ तो एक मूल पेड़ है बबूल का की करता उस पेड़ को ही काट डाला उसने ऊपर से ऊपर से काटा उसने उसने काटता तो दिया फिर वही वही फूट करके फिर आ गया आप अंत में उसकी जड़ों पर पहुंचेंगे कहने लगे जब तक जड़ों का विनाश नहीं बीज का विनाश जब तक नहीं हो जाता तो दुख का अभाव नहीं है बात सफल समझ आज का भौतिक वैज्ञानिक भूल क्या करता है वो पूरे दुख को भी नहीं जानता उलाने की बात नहीं मैं जो मानता हूं पूरे दुख को भी नहीं जानता और पूरे दुख के कारण को भी नहीं जानता भूल ये हो रही है कुछ दुख को जानता है और कुछ दुख के कारणों को भी जानता है ये तो ठीक है पर पूरे दुख को और पूरे दुख के कारणों को नहीं जानता इसलिए समस्या खड़ी हुई है ये जो आजकल इतना भी ज्ञान बढ़ने पर भी संतप्त है विश्व मां दुखी है भयभीत है उसी को शांति की सांस नहीं आ रही है आप देख सकते उसमें मूल में ये भूल हुई है तो आप समझ गए कि कारण की परंपरा वो परंपरा जब तक बीज का नाश नहीं हो जाता तब तक ये कारण का अभाव नहीं होगा यदि कारण का अभाव नहीं होगा तो दुख जो काटे का है वो भी दूर नहीं होगा तो दो बातें हमारे सामने आई दुख को दूर करना चाहता है परंतु उसको ये पता चला ये दुख तो किसी कारण से उत्पन्न होता है अपने आप नहीं आ सकता उसने कहा कि फिर तो ये बात है दुख को दूर करो और दुख के कारण को दूर करो दो बातें सामने दो तत्व सामने आ गए दो का जानना अनिवार्य होगा दुख का स्वरूप पूरा का पूरा और दुख के कारणों का स्वरूप ये जानना फिर तीसरी बात एक व्यक्ति दुख से छूटने की भांति वो नित्य सुख स्थायी सुख पूरी स्वतंत्रता ऐसे सुख को प्राप्त होना चाहिए एक सुख ऐसे होते हैं उसमें दुख मिश्रित रहता है यद्यपि उसको भोगना पड़ता है <laughs> पर दुख जिस सुख में मिल जाए उसको भोगना चाहता कोई नहीं कल्पना करो गृहस्थाश्रम की पति पत्नी ठीक है पढ़े लिखे भी हैं धन की संपत्ति की भी न्यूनता नहीं संतान भी है सब कुछ है आप देखेंगे उनमें एक दो विचार आपस में नहीं मिलता पति पत्नी में जैसे और उसके कारण से तनाव हो जाता है होता या नहीं होता एक दो तीन विचार नहीं मिल रहे दोनों के मोटी भाषा में भारत की परंपरा में बोले एक तो निराकार ईश्वर की पूजा की बात करता है एक साकार की बात करता है पति पत्नी और सब ठीक है यही एक दो विचार आया उसने तनाव पैदा कर दिया और दोनों में तनाव पैदा हो गया ईर्षा वो उसको कुछ अब ये सुख में दुख मिल गया <laughs> आप ये प्रत्यक्ष देख सकते हैं ये एक उदाहरण मात्र है वो सुख में दुख मिल गया दुख मिल गया तो परिणाम क्या होता है जिस सुख में दुख मिल जाए वो सुख भी दुख रूप दिखने लगता इसलिए ऋषियों ने जो गवेषणा की करोड़ों वर्षों से याद रखना उन्होंने कहा संसार में सुख है इसमें मतभेद नहीं है प्राकृतिक पदार्थों में पर उन्होंने ये कहा वो लौकिक दृष्टि में जो तत्ववेता नहीं है आत्मा परमात्मा को जिन्होंने नहीं जाना उनकी दृष्टि से वो सुख अच्छा है अच्छा लगता है उसको ग्रहण करते हैं उसमें संतुष्ट हो जाते हैं पर उन्होंने कहा ध्यान देना जो सांसारिक सुख है उसमें चार प्रकार का दुख मिश्रित रहता है कोई सुख ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें चार प्रकार का दुख मिश्रित ना हो फिर ऋषियों ने क्या कहा कहने लगे जिसमें चार प्रकार का दुख मिश्रित है उससे भी तो छूटना आवश्यक है बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कांटे की तरह खटकता है वो कांटे की तरह चुभता है जो सुख में दुख मिला हुआ है वो क्या करता है <laughs> ये सुख को ही क्यों नहीं छोड़ दिया जाए संख्यकार ने निर्णय लिया की को भी सुखी न कहीं भी संसार में कोई पूरा सुखी नहीं है पुत्र अभी ये तो मोटी भाषा कहीं भी को भी कोई भी पूरा सुखी पुत्र अभी को भी सुखी यहाँ कह और शंका उभरेगी कि बड़े आनंद से रहते कितने लोग दुनिया में राजा महाराजा सारे साधन उपस्थित होते हैं तद दुख सबलम इति तद वो जो सुख है वो दुख मिश्रित है तद जो आप कहते हैं ना सुखी है संसार के लोग तद अभी वो भी दुख शबनम ही थी दुख मिश्रित ही सुख है वो इसलिए हे पक्षी क्षिप विक्षिपनते विवेचका त्याग के पक्ष में ही बुद्धि उच्च कोटि के बेटा लोग उसको त्याग ही मानते हैं तद भी दुख शबलम ही वो सुख जो संसार में वो दुख मिश्रित होने से तत्व वेता योगी लोग उस सुख को भी दुख मान के छोड़ देते हैं इसलिए इसको ये भौतिक विज्ञान के लोग जहां मैंने अध्ययन किया इसको नहीं समझ पा रहे ये बात समझ में नहीं आ रही है यदि ये समझ में आ जाएगी इतनी उलझने जो उत्पन्न हुई है जहां बड़े लाभ है विज्ञान से वह समस्याएं भी इतनी खड़ी कर देगी सारे अशांत सारे लोग दुखी हैं धनवान है और बुद्धिमान और वैज्ञानिक है और शक्तिशाली भी दुखी है और निर्बल भी दुखी है कोई भी कहीं भी तो शांति से युक्त नहीं दिख रहा है वो मूल भूल हो गई वहां इसलिए वो जो व्यक्ति जिस सुख को प्राप्त करना चाहता है वो ऐसा सुख होना चाहिए जिसमें दुख मिश्रित ना हो और स्थायी होना चाहिए दुख रहित सुख और जिसमें स्थायित्व रहे ऐसे सुख की गवेषणा खोज सभी व्यक्ति करते हैं आप और मैं सभी करते हैं मतभेद नहीं कोई भी व्यक्ति ऐसा सुख नहीं चाहता जिसमें दुख मिला हुआ पर भोगना पड़ता है अब मैं आपको वहां ले जाना चाहूंगा कि ये जो सुख है जिसको हम कहते हैं ऐसा सुख मिलना चाहिए ये सुख ईश्वर में और कहीं नहीं अब जहां तक मेरा अध्ययन है भौतिक वैज्ञानिक तो ईश्वर को स्वीकार ही नहीं करते सामूहिक रूप में चार दीवारी अपनी में वो नहीं करते जहां तक मेरा विचार आज तक सर्वसम्मति से इसको स्वीकार किया हो और इसकी खोज के लिए अरबों रुपया खर्च करो ऐसी योजना बनी हो मेरे सामने तो आई नहीं और हमारे भगवान जी जानते होंगे इनको पता होगा मैंने तो सुना है सामूहिक रूप में सर्वसम्मति से ईश्वर तत्व है दुखों का विनाश करने वाला आनंद का भंडार है वैज्ञानिक लोगो योजनाबद्ध एक अरब खरब रूपये खर्च करो ईश्वर की प्राप्ति में लगा दो ऐसी योजना बनी हो मेरे सामने तब तक आई आई होगी तो आपको बताओ नहीं आई ये भयंकर बोलोगे बहुत भयंकर होगा संसार का स्तर बुद्धि तख्ता ही पलट गया यदि ये संतुलन नहीं बिगड़ता तो आज भौतिक विज्ञान से जो दूसरे के प्राण लिए जा रहे हैं विनाश किया जा रहा है या तैयारी की है वो कभी नहीं होती ये शक्ति जो लगी है अस्त्र शस्त्र में मारने के लिए छीनने के लिए रक्षा के लगती रक्षा के लिए लग जाती है यदि ये सिद्धांत को समझ जाते ये ये चाहते हैं लोक में संसार में जो सुख है वही सब कुछ है आगे पीछे कुछ नहीं है इससे अतिरिक्त सुख नाम की कोई चीज नहीं है ना कोई ईश्वर है ऐसा जो सुख पूर्ण आनंदित कर देवे इसलिए जो कुछ संसार में भोग है उसके आगे पीछे कुछ नहीं उसको भोग और भोगने में भी एक सीमा होती है इन्होंने कहा जिस किसी प्रकार से भोगो साधनों की सीमा होती है इतने साधनों से ही भोग भोगो नहीं साधनों की भी सीमा नहीं है जिस किसी साधन से छीनो और भोग भोग कर डालो ये प्रत्येक व्यक्ति का दिमाग बना तो विश्व सारा कलेशों से पिस रहा है भयंकर से पिस रहा है तो आप समझने का प्रयास करेंगे ये जो मैं बात बतला रहा हूं ये वेदों में ये दर्शन शास्त्रों में वैदिक ये दस उपनिषदों में है याद रखना और मैं ऐसा ही मानता हूं और मेरे अनुभव भी ऐसे ही मानना ही मानना नहीं केवल वहां से उठाकर रखना ही नहीं अनुभव भी ऐसे भौतिक वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की मिट्टी जाकर रखी ऐसा ही होगा ना या नहीं रखी कुछ लोग कहते हैं झूठ बगाते मुझे पता नहीं आपको पता होगा वास्तव में लाके रखी या नहीं रखी ये जो रूस ने रखी थी ये वास्तव में है या ऐसे मनगढ़ंत है वास्तव में ना हाँ एक व्यक्ति ने तो समस्या खड़ी कर दी क्या कहने लगे वास्तव में कोई चंद्रमा उन्द्रमा पर नहीं गए इन्होंने योजना बनाई और कल्पना कर दी लोगों को पता तो चला नहीं चंद्रमा क्या होता है क्या नहीं कह दिया हम चंद्रमा गए इसके व्यक्ति नहीं है बात मैंने कहा भाई हमारे अंतिम निर्णय तो ले ले जैसे वो चंद्रमा की मिट्टी लाके रख देते अपना क्षेत्र है उनका और चंद्रमा की किसी को ले जा नहीं सकते हम यदि भौतिक वैज्ञानिक लोग यदि समझना चाहें तो ईश्वर को जैसे चंद्रमा की मिट्टी लाके रख दी प्रत्येक करवा दिया चंद्रमा का हम भी ईश्वर को प्रत्येक करवा सकते यदि वैज्ञानिक लोग सीखना चाहें इतना सामर्थ्य है हमारे अब ये देख लीजिए पर ये हमारी बात कौन सुनेगा कौन सुनाएगा कौन प्रबंध करेगा ये कोई मतलब नहीं है हमको तो बिना पढ़ा लिखा जंगल में रहने वाला मान के कोई व्यक्ति बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा उसको इंग्लिश आती नहीं उसको विज्ञान आता नहीं उसको ये आता नहीं वो कहेगा नहीं <laughs> इसकी बात हम सुनेंगे ही नहीं इसको एक और रहने जब तो मैं आपको सुना रहा था मेरी दृष्टि में या ऋषियों की दृष्टि में शत प्रतिशत सत्य है पूरा सुख दुख रहित सुख नित्य सुख दुख मिश्रित जिसमें नहीं है सारी पराधीनता जिसमें समाप्त होती है वो सुख ईश्वर में नित्य सुख है जिसको आनंद नाम से भी बोलते हैं अपने अपने क्षेत्र होते हैं मैंने जो गवेषणा की खोज की वैज्ञानिक अपने ढंग से खोज करते रहे करते हैं अच्छा पुरुषार्थ हमने अपने ढंग से खोज की मैंने अपने ढंग से गवेषणा की और कैसी स्थिति में की वैज्ञानिकों को तो बहुत साधन मिलते हैं हाँ आरंभ आरंभ में कुछ वैज्ञानिकों ने बहुत परिश्रम किया होगा प्रारंभ प्रारंभ में आजकल तो बड़ी सुविधाएं हैं उनको प्रारंभ के भौतिक वैज्ञानिकों ने बहुत परिश्रम किए होंगे नई नई चीज का खोजना कोई साधारण बात नहीं होती फिर आगे तो परंपरा चल पड़ती है तो मैं आपको सुना रहा था कि ये तीसरी बात है कि नित्य सुख दुख रहित सुख जिसमें पराधीनता नहीं है किसी भी प्रकार की वह तीसरी बात है उसको सभी प्राप्त करना चाहते हैं उसी प्रकार जैसे कि दुख के संबंध में सुना आपने दुख के स्वरूप को जानने के पश्चात व्यक्ति दुख के उत्पादक पैदा करने वाले साधनों को भी जानना चाहेगा दुख को जैसे हटाना चाहता है वैसे दुख के साधनों को भी हटाना चाहेगा वो उसके बिना वो निर्वाह नहीं हो सकता सफलता नहीं मिलती अब इसकी ओर साथ जोड़ दो जो नित्य सुख की प्राप्ति करना चाहता है दुख रहित सुख की प्राप्ति करना चाहता है वो वैसे ही उसके साधनों की भी प्राप्ति करना चाहता है अब पूरा विश्व पदार्थ मात्र चार में विभाजित है चार को जान लेने के पश्चात पांचवी बात को जानने की आवश्यकता दुख के स्वरूप को जो जान गया और दुख के उत्पादक कारणों को जो जान गया और सुख के स्वरूप को जो जान गया सुख के उत्पादक साधनों को जो जान गया उस व्यक्ति के लिए पांचवी चीज जानने की कोई शेष नहीं रहती इसको ऋषि परंपरा में इस स्थिति को जो प्राप्त कर लेता है उसको मोक्ष कहते हैं कृतकृत्यता कहते हैं जीवन की सफलता कहते हैं आप ध्यान देंगे अब जो ये चारों बातें हैं कुछ आंशिक रूप में बहुत से लोग जानते हैं ये दुख है आंशिक रूप में और ये उसके साधन है आंशिक रूप में पर यहां तो ये बताया जा रहा है पूरा दुख पूरा दुख क्या है आप खीर हलवा खाते हैं अच्छी भूख लगी है बड़ा आनंद आता है वो खीर हलवे में जो दुख मिला हुआ उसको आप नहीं पकड़ पाते बताओ कहीं पकड़ में आता हो तो पीछे भले ही दस्त लग जाए पेट फूल जाए कुछ और कुछ हो जाए जब हलवा खाते हैं खीर खाते हैं तो आनंद ही आनंद आता है दुखीन बुद्धि तो नहीं होती अच्छा वहां पर दुख रहता है खीर हलवे में अच्छा वो व्यक्ति पकड़ नहीं पाता इसलिए उसको उसने दुख के स्वरूप को पूरा नहीं जाना एक बात अब दूसरी ओर चलिए संसार में जो हम खाते हैं उसमें सुख भी है अभाव नहीं है पर सुख इतना ही है इसी का नाम अंतिम सुख है ये सुख के स्वरूप को पूरा नहीं जानता जैसे दुख के स्वरूप को पूरा नहीं जानता वैसे सुख के स्वरूप को भी पूरा नहीं जानता पूरा विश्व छह अरब से ऊपर पहुंच गया होगा इसमें इन्हें गिने लोग कोई वेद की रीति दर्शन की रीति से योगाभ्यास में जो सफल रहे हो कितने होंगे ये अलग बात है उसको छोड़ के शेष व्यक्ति इस बात को नहीं जानते नहीं जानते सुख का स्वरूप पूरा सुख का स्वरूप नित्य सुख स्थायी सुख दुख रहित सुख जो है उसका स्वरूप नहीं जानते लौकिक सुख को जानते फिर जैसे सुख का स्वरूप नहीं जानते ऐसे सुख के उत्पादक साधनों का स्वरूप भी कुछ सीमा में जानते हैं पूरा नहीं जानते ये मैंने आपको बतलाया पूरा विश्व पदार्थ मात्र चार विभागों में विभाजित हो जाता है और जो व्यक्ति चार को जानता है और रूप ध्यान देना एक है ज्ञान एक है कर्म एक है उपासना तीनों को एक साथ जोड़ना चाहिए ज्ञान मात्र से काम नहीं चलता जान लिया हमने तो समझ लीजिए क्रिया जब तक नहीं होगी आपको सफलता नहीं मिलेगी जान लिया कि भाई यहां से ये आपका अट गया इसको लगा लेना लगाना चाहिए लगा लेना तो उसमें हमने पता लगा लिया कि अहमदाबाद से अमुक गाड़ी दिल्ली जाएगी इतने समय जाएगी इतना आरक्षण आदि का व्यवस्था पर हमने हाथ पैर नहीं हिलाया प्रयत्न नहीं किया हमने कोई प्रयास भी नहीं किया उस ध्यान से दिल्ली नहीं पहुंच सकते अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते इसलिए ये भी जानना चाहिए ज्ञान और कर्म ये एक दूसरे से मिलकर के उन्नत होते हैं अर्थात ज्ञान कर्म के माध्यम से बढ़ता है कर्म ऊंचा ऊंचे स्तर पर ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ जाता है ज्ञान से कर्म कर्म से ज्ञान यदि विद्यार्थी बैठ करके विद्या नहीं पढ़ता है क्रिया नहीं करे तो उसकी विद्या कहां आएगी उसको क्रिया नहीं होती जब तक विद्या पढ़ने में तब तक ज्ञान विज्ञान ज्ञान मिलेगा ही और जब तक वो व्यक्ति क्रिया नहीं कर करके देखता प्रयोग क्रियात्मक उस व्यक्ति क्रिया के न करने से ज्ञान विज्ञान उसका विशुद्ध रूप में आएगा ही आपने सुन तो लिया होगा ईश्वर आनंद स्वरूप है सुना होगा बहुत बार आज तक करके आपने देखा नहीं तो आनंद आज तक एक अंश भी नहीं मिला होगा आपको कैसे आनंद मिलता है क्रिया करके नहीं देखी आपने तो ईश्वर आनंद स्वरूप है सुना पढ़ा पढ़ाया भी पर आज तक उसको पचास वर्ष में आनंद नहीं मिला क्यों क्रिया ही नहीं की इसलिए ज्ञान एक बात और फिर कर्म कर्म के बहुत बेदाव हैं बहुत लंबे मने जाए बुरा कर्म अच्छा कर्म दो विभाग और सकाम कर्म निष्काम कर्म ये दो विभाग योग के क्षेत्र में जाने के लिए बुरे को हटा दीजिए अच्छे को पकड़ लीजिए फिर सकाम कर्म को हटा दीजिए निष्काम कर्म को पकड़िए निष्काम कर्म योग में सीधा भाग लेता है सकाम कर्म आरंभ में व्यक्ति को अच्छा बना देता है लौकिक इच्छाओं से लौकिक फल की इच्छा से जो हम कर्म करते हैं ना अच्छे काम में दान देना विद्यार्थियों को पढ़ाना पर उसमें उसको सुख की लौकिक कामनाएं यश मिलेगा धन मिलेगा आदि आदि लौकिक फल की इच्छा से जो हम करते हैं वो सकाम कर्म की खोटी बात आगे बढ़ जाइए ज्ञान और कर्म से कार्य नहीं चलता उसको उपासना चाहिए उपासना चाहिए ईश्वर की उपासना उसको करनी पड़ेगी दो से कार्य नहीं चलता आप ये जानना चाहेंगे अग्नि के पास में जाते हैं अग्नि के गुणों को ले लेते हैं और ईश्वर के सानिध्य से ईश्वर की उपासना संगति से हम ईश्वर के ज्ञान को ग्रहण करते हैं आनंद को ग्रहण करते जब तक हम ईश्वर की उपासना नहीं करते उसके सानिध्य में नहीं बैठते तब तक आनंद और ज्ञान ईश्वर के हमको उपलब्ध नहीं होते जब नहीं होते तो हम आनंद की खोज में लगे रहेंगे आनंद जब तक नहीं मिल जाता तब तक व्यक्ति दौड़ ही लगाता रहता है आनंद जब तक नहीं मिलेगा वो इंद्रियों के भोगों में पड़ेगा ही इंद्रियों के भोगों से नहीं बच सकता इसलिए उपासना अब दूसरी दिन उपासना करने से ज्ञान बढ़ता है उपासना करने से व्यक्ति धार्मिक बनता है अर्थात तीनों के तीनों चल करके तीनों के तीनों आधार बनते हैं मानव जीवन को कृतकृत्य तक पहुंचाने के लिए ज्ञान कर्म और उपासना और यह भी याद रखना चाहिए ज्ञान कर्म उपासना से कोई व्यक्ति खाली नहीं होता सभी करते हैं वो शुद्ध भी हो सकता है और अशुद्ध भी हो सकता है शुद्ध ज्ञान हो या अशुद्ध हो शुद्ध कर्म हो या अशुद्ध हो शुद्ध उपासना हो या अशुद्ध हो ये छह प्रकार बन जाएंगे तीनों शुद्ध भी होते हैं और तीनों अशुद्ध भी होते हैं इनमें तीन में व्यक्ति जब अशुद्ध को पकड़ देता है तो व्यक्ति अपवित्र बन जाता है बिगड़ जाता है शुद्ध को पकड़ता है तो व्यक्ति पवित्र महान बन जाता है अंत अब थोड़ा सा ये वेद मंत्र का भी थोड़ा सा इसके साथ वो जोड़ दे अच्छा रहेगा ये वेद मंत्र है ये क्या लिखा है वेदों में तीन पदार्थों का स्वरूप बताया ईश्वर जीव तथा प्रकृति जो इनका ठीक स्वरूप जानकर तदनुरूप कर्म व उपासना करता है उसका ही जीवन सफल होता है ये नीचे मंत्र है ऊपर संकेत दे दिया शीर्षक में नीचे मंत्र है और ये मंत्र का अर्थ है ऊपर तो संकेत दे दिया तीन पदार्थों का स्वरूप वेद में बताया है तीन वस्तु तत्व है भौतिक विज्ञान में भूल कहाँ हो गई हो गई ईश्वर को बाहर निकाला शायद जीव को भी निकाल दिया हो दो को निकाला है मुझे पता नहीं ईश्वर को तो निकाल ही रखा है और एक प्रकृति प्राकृतिक पदार्थों को स्वीकार कर लिया इसे ज्ञान के क्षेत्र में भूल क्या हुई तीन का ज्ञान होना चाहिए था वो एक या दो का दो मानेंगे तो दो का ही रहेगा जीवात्मा और प्रकृति और केवल भौतिक विज्ञान ही होगा जीवात्मा भी छूट जाएगा तो एक का ज्ञान रह जाएगा भूल भयंकर ये हुई है विद्यालयों में विश्वविद्यालयों में पूरे भूगोल में उसने तीन तत्वों का ज्ञान होना अनिवार्य था ईश्वर का जीव का प्रकृति का भौतिक विज्ञान आ गया और उसमें भूल किसी ने ये भूल की कि एक ही तत्व को माना जैसे दार्शनिकों में पाश्चात्य दार्शनिकों में जामन के विचार पड़े कार्ल मार्क्स ने कहा केवल पृथ्वी आदि भूतों को छोड़ के कोई आत्मा परमात्मा नाम की चीज नहीं है उसका यह मत रहा केवल जड़वाद ये केवल जड़वाद कहलाता है मूल सिद्धांत एक केवल चेतनवाद चेतनवाद ये कहता है ईश्वर को छोड़ के ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ईश्वर को छोड़ के कोई तत्व नहीं है संसार में न कोई जीवात्मा है न कोई प्रकृति है भौतिक कुछ भी नहीं है पृथ्वी आदि ये तो बेकार स्वप्नवत है ये केवल चेतनवाद है ये भी समझ मांगे आ अब चलिए तीसरा वर्ग आया उसने कहा जीवात्मा है प्रकृति है परमात्मा नाम की चीज कोई नहीं है ये जड़ और चेतनवाद एक जीवात्मा को स्वीकार करता है और भौतिक जगत ईश्वर को नहीं करता अब एक चौथा हमारे सामने आया उसमें एक ईश्वर दूसरा जीवात्मा तीसरी प्रकृति ये वेदों की परंपरा है ये दर्शनों की परंपरा है जिसमें तीन तत्व माने जाते हैं एक ईश्वर एक आत्मा आप और हम और भौतिक जो भौतिक बच गया प्रोटोन न्यूट्रन जिसको आप कुछ भी कहिए हमको प्रकृति बोलेंगे आप क्वार्क कह देते हैं या क्वार्क से भी आगे बढ़ गए आपने बताया था कि वह प्रोटोन न्यूट्रन को तोड़ डाला आपने बताया मैंने कहा अब कहेंगे उसका नाम क्वार्क ऐसा बताया होगा अब मैंने कहा अब इनको इन्होंने आगे कुछ तोड़ा नहीं तोड़ा ये तो आप बता पाएंगे हमने यहाँ तक सुना हम तोड़ते तोड़ते तोड़ते तोड़ते जो अंत में पीछे की ओर चले जाते हैं उसको सत्व रजतम तीन द्रव्य माने जाते अंत सत्व रजतम तीन द्रव्य माने जाते हैं उस झुंड का नाम प्रकृति है इसमें सारा भौतिक जगत आ गया भौतिक वस्तु उससे ही बनी है सारी सत्व रजतम से वो द्रव्य पदार्थ सूक्ष्मतम उन्हीं से सारी सृष्टि बनती है बनती नहीं है आपके मत में वैज्ञानिकों के बनती होगी हम कहते बनाता है अंत बनती नहीं है बनेगी ही नहीं हमको अच्छी तरह ज्ञात है बिना चेतन करता के प्रयोजन को सामने रखे जड़ पदार्थ कोई रचना नहीं कर सकता हाँ जी सत्यनारायण जी बोलिए क्या समझ में आया चेतन पदार्थ नहीं मैं तो एक तर्क देता हूं चेतन पदार्थ जो उस पदार्थ की रचना के लाभ को जानता हो क्या समझे मैं आंख बना रहा हूं इसे लोग देखा करेंगे <coughs> कान बना इसे लोग सुना करेंगे ऐसी योजना बनाता है वो चेतन पदार्थ होता है जड़ पदार्थ ऐसी योजना कभी नहीं बनाते अब तो समझ में आ गया होगा चेतन पदार्थ भी ऐसी योजना बनाता है जड़ पदार्थ ऐसी योजना बना के कोई कार्य नहीं करते अक्षमात कोई घटना हो जाए अलग बात है चेतन पदार्थ ही ऐसी योजना बनाता है इसलिए ऋषियों ने क्या कहा कि ईश्वर ने सृष्टि दो प्रयोजनों के लिए बनाई भोग अपवर्गार्थम दर्शन लौकिक सुख भी मिलेगा आपको और मोक्ष भी मिलेगा दो प्रयोजनों को सामने रखे ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है अपने आप नहीं होती कभी होगी नहीं और थोड़ा सा ये वेद का द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्य पिप्पलम स्वादु अति अनसनन अन्य अभिचाकशेति इस मंत्र में तीन पदार्थों का वर्णन है ऋग्वेद का मंत्र है ये आपने अर्थ देखना हो ये ईश्वर लिखा हिंदी में ये सत्या प्रकाश से लिया होगा आठवां सुमलास इसमें दुआ का अर्थ है दो तो, दुआ कहते हैं दो बहु संस्कृत में बहु बोलते हैं दो को यहाँ वेद में उसके अपवाद हैं कुछ नियम व्याकरण के लगते हैं कुछ नहीं लगते वेद में वेद तीनों कालों में चलता है तो इसलिए बहु को दुआ बन गया दो सुपर्णा अच्छे चेतन यानी अच्छे कर्म बुद्धिपूर्वक कर्म करने वाले सुपर्णा सयुजा युज होता ना साथ रहने वाले ये तो सीधे शब्द है सयुजा साथ रहने वाले सखाया सखा बोलते हैं श्लोक में वही शब्द है सखाया सखा मित्र सखाया और मित्रता से रहते हैं दोनों मित्र हैं कौन कौन आप भी दौड़ा दिया नींद भी नहीं आएगी ईश्वर जीव सखाया दोनों मित्र हैं साथ रहते हैं और सखा भी है और समान वृक्षम ये वृक्ष संसार है प्रकृति से बना हुआ उन्हीं के समान तीसरा तत्व प्रकृति है वृक्ष बढ़ता है नष्ट होकर लीन हो जाता है प्रकृति का संसार बनता है वृक्ष की भांति लीन हो जाता है वृक्ष जैसे बीज से आया बीज रूप माटी वृक्ष बना वृक्ष बनने पर नष्ट हो गया अपने कारण में लीन हो गया ये प्रकृति से बना ये संसार वृक्ष ये तीसरा पदार्थ वृक्ष के बाकी वृक्ष के तुल्य वृक्ष जैसे उत्पन्न होता है नष्ट हो जाता है अपने कारण में लीन हो जाता है ऐसे ये संसार रूपी जो बना है ये प्रकृति से बना है ये तीसरा पदार्थ है समानम वृक्षम परिसस्व जाते ये दो दोनों पुरुष है ये ईश्वर जीव ये एक वृक्ष पर बैठे हैं ये ये जो पेड़ है एक पेड़ पर बैठे हैं ईश्वर जीव अलंकारिक भाषा है एक पेड़ पर बैठे हैं दोनों के दोनों एक ही पेड़ पर है दोनों प्रकृति रूपी एक पेड़ संसार रूपी एक वृक्ष है उस पर दो पक्षी बैठे हैं कहते परिशस्व जाते दोनों साथ साथ बैठे परिशस्व जाते दोनों साथ साथ बैठे तयो संस्कृत थोड़ी सी जानने वाला उन दोनों में से तयो सतौते तम तौतान तेने ताभ्याम तयो उन दोनों में से अन्य अन्य का था दूसरा तयो अन्य उनमें से एक जो दोनों पेड़ पर बैठे हैं उनमें से एक अन्य उनमें से अन्य एक पिपलम स्वादु अति सुख दुखों को अच्छे प्रकार से भोगता है ये जीवात्मा पिपलम फलम वा पुण्य का फल पिपलम फलम भाषा तो समझ में आ रही होगी आप कोई कठिनाई नहीं <laughs> पिपलम स्वादु स्वादु अच्छे प्रश्न स्वादु अति है ना संधि हो गई वहां स्वादु अति संधि तोड़ेंगे ऐसा बनेगा स्वादु अति स्वादु अति संधि बन जाती है और अनसनन कहते आज फलाने ने अनसन कर दिया आज अमुक ने अनसनन ने खाता हुआ अनसनन अन्य ने खाता हुआ अन्य ईश्वर थी प्रकाश स्वरूप ज्ञान से युक्त परमात्मा उसको सबको देख रहा है अभी थी अब ये चित्र खींचा वेद की परंपरा में कि तीन पदार्थ हैं उनमें एक ईश्वर है एक जीवात्मा प्रकृति है उनमें से एक तो अच्छे बुरे कर्मों को करने वाला उसका फल भोगने वाला है एक भुगाने वाला है और एक भोगया जाने वाला है आई बात समझ में इसको समझाया जाता है कि देखो तीन पदार्थ हमको क्यों स्वीकार करने चाहिए कहने लगे संसार की जितनी घटनाएं हैं व्यवहार है वो तीन को सिद्ध करता है कैसे एक दुकानदार चाहिए जो दुकान का माल इकट्ठा करके व्यवस्था बनाएगा और उसमें माल चाहिए और एक खरीदने वाला चाहिए तब तो दुकान चलेगी नहीं तो दुकान चल नहीं सकती ग्राहक नहीं हो खरीदने वाला नहीं प्रबंधक ना हो और माल ही ना हो कहते तीन जब होंगे तो भाई दुकान चलेगी नहीं तो दुकान नाम की चीज चल नहीं सकती यहाँ तीन होंगे तो संसार चलेगा नहीं तो संसार इस रूप में कभी चल नहीं सकता कोई माने नहीं माने हम मनुष्य बन गए वो कुत्ते भोंक रहे थे कभी पहले देखे वहां पर दौड़ लग रही है में खप गया भैया क्या बात है हम इतने बुद्धिमान आकाश पताल खोल डाला और कुत्ता बेचारा एक रुमाल मुंह पूछने का रुमाल नहीं बना सकता सारे जीवन भर <laughs> ये क्या बात है कि मुझे भाई देखो एक भुगाने वाला है ऊपर जिसने कुत्ता बनाया उसको कुत्ता कोई साधारण चीज तो है नहीं मैं नहीं बना सकता शायद आप भी नहीं बना सकते हो कुत्ते को क्या बना लोगे वही इतनी इतनी सूक्ष्म रचना है इतनी नाड़ियां कहां पर क्या होगा हम नहीं जानते वो कुत्ता पता नहीं कितनी योनिया है उसकी वैज्ञानिक रचना मनुष्य की रचना और इनका दिमाग अलग अलग इनके साधन अलग अलग इनके व्यवसाय अलग अलग ये जब तक भुगाने वाला ना हो ये रचना ऐसे हो ही नहीं सकती नहीं हो सकती अपने आप कहते ना विकासवादी कहते हैं भाई अमीमा नाम का जंतु उससे मछली बन गई फिर उससे बंदर बन गया फिर पूछ गछ के मनुष्य बन गया ये बिना सिर की बात है एक भुगाने वाला एक भोगने वाला एक भोगे जाने वाला तीन चाहिए हम ऋषि ने एक दृष्टांत दिया कहते ध्यान दो जीवात्मा कोई अलग तत्व है भोगने वाला क्यों कहने की बात यह है जितनी चीजें हम बनाते हैं मकान बनाते हैं कार बनाते हैं वो दूसरे के लिए होती है वो कार भवन दूसरे के लिए कार कार के लिए नहीं होती हलवा हलवे के लिए नहीं होता खीर खीर के लिए नहीं होती ल, कहते लड्डू लड्डू के लिए नहीं होता जिसके लिए लड्डू बनाया जाता वो कोई और है कुछ तो समझ में आएगा या नहीं आया ये जितनी चीजें बनती है पांच तत्व बनती है घड़ा और लड्डू सब कुछ बनते लड्डू लड्डू के लिए नहीं होता लड्डू में भी वही तत्व है पांचों हमारे साथ भी वही उसमें खीर में है वही उसमें पर वहां पर ये देखा जाता है ये भवन भवन के लिए कुछ नहीं है वो मनुष्यों के लिए जीवात्मा के लिए खीर खीर के लिए नहीं वो जीवात्मा के लिए ऋषियों ने यह सिद्ध किया इसका जो भोग करने वाला है वो अलग है और भोग्या जाने वाला अलग है ये सिद्ध किया दोनों एक नहीं है जो भौतिकवादी कहते हैं पांच तत्वों का मिश्रण मात्र है उनके अंदर वही तो भोगने वाला और वही भोग्या जाने वाला और वही भोगाने वाला तीनों हुए वही भोगने वाला वही भोग्या जाने वाला और वही भुगाने वाला समय हो गया होगा तो इसलिए ये जानना चाहिए कि तीन तत्वों का ज्ञान हमको चाहिए और फिर उसको कर्म के साथ जोड़ा जाना चाहिए फिर उपासना उसके साथ जोड़ी जाए इन तीनों को लेकर के व्यक्ति जिस स्तर पर पहुंचना चाहता है प्रारंभ में मैंने बात कही समस्त दुखों से छूटना कलेशों से बंधनों से छूटना चाहता है उसके कारणों से भी छूटना चाहता है नित्य आनंद को स्थायी सुख को स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहता है वो निश्चित रूप में उसको यह स्थिति मिले ऐसा जानना चाहिए आज भी ये भारत के पास में ये विद्या है जहां तक मैंने सुना पढ़ा देखा है दूसरे किसी भी देश के पास में ये विद्या नहीं है ईश्वर साक्षात्कार की विद्या मतलब विशुद्ध रूप में आत्मा परमात्मा इस परंपरा में भी मैं आपको बताना चाहूंगा ये परंपरा भी भूले भटकियों को महाभारत काल से भटके थे हम पांच हजार वर्ष साढ़े पांच जितना उसमें भटके हुए को भूले हुए को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मारे फिर से सामने लाके खड़ा कर दिया नहीं तो भटके ही भटके पता नहीं क्या होता और किसी के बस की बात नहीं आई बीच में महापुरुष आए आप अपने ढंग से आए वो आया ये आया अपनी अपनी बातें कही परंतु वेदों के आधार पर कसौटी के आधार पर वो करोड़ों पुरुषों की परंपरा महर्षि ने जो तो रखी है ऐसा कोई पुरुष ऐसा नहीं जिसने ये व्यवस्था दी सारी व्यवस्थाएं दे दी कोई भी तो भाग नहीं छोड़ा चारों आश्रमों की व्यवस्था दे दी राजनीति की व्यवस्था दे दी पठन पाठन की व्यवस्था दे दी और बंद मोक्ष की व्यवस्था दे दी कोई विषय नहीं छोड़ा जिसमें व्यवस्था ने दी हो ये परंपरा ये परंपरा वैदिक परंपरा में इसको सिखाया जा सकता है यूं तो करोड़ों लोग आजकल योगाभ्यास करते हैं पर अच्छी बातें भी होती है सारी खराब नहीं होती पर ईश्वर साक्षात्कार तक पहुंचाने वाला कोई मत भूगोल में नहीं है इनमें से वही आर्म में भूल है वहां ज्ञान में भूल है ज्ञान यदि गलत हो गया तो कर्म गलत होते चले जाएंगे और उसी प्रकार से उपासना भी गलत होती चली जाएगी जब तीनों ठीक नहीं होंगे तो ये जो हमारा अंतिम प्रयोजन है ईश्वर साक्षात्कार वाला ये नहीं हो पाता इसलिए आपको भी इस संबंध में अच्छे प्रकार से विचार करना चाहिए खुले दिल से करना चाहिए आप जैसे होंगे तो घर के कार्य अलग हो चुके होंगे आप दूसरे कार्यों को छोड़ दो करना और इस इसको जानो इसको जनाओ उपनीतकार ऋषि तो बिल्कुल साफ कहते मैं भाव सुनाता हूं उपनीतकार का ईश्वर को आत्मा शब्द से बोला एनम आत्मा भी जानत है हे संसार के लोगों इस आत्मा को जानो अन्य वाचा विमुंचत है और बातों को छोड़ दो तो, दूसरी बात मत करो बातों का मतलब सुख शांति के लिए दूसरी बातों को मत करो सुख शांति चाहिए दुख से हटना हो तो इस आत्मा ईश्वर को जानो अन्य विचारों को छोड़ दो जो कि ये मान के चल रहे हो हमका हमको सुख मिलेगा और दुख दूर हो जाएगा कहते और बात मत करो यदि दुख से छूटना चाहते हो तो तो ऐसा जानना चाहिए आपने सुना मैंने सुनाया आपसे हम भौतिक विज्ञान के लाभ उठा सकते और जिन विषयों में आप गति नहीं रख सकते हम मान लो उसमें जानते तो उससे आप लाभ उठा सकते हैं भौतिक विज्ञान एक अत्यंत आवश्यक विज्ञान है ऋषि का खंडन कभी नहीं करते याद रखना जैसे जैसे आपने भौतिक वैज्ञानिक खंडन करते हैं उपेक्षा नहीं उपेक्षा कर देते खंडन कर दिया उपेक्षा करते ऐसे ऋषि नहीं मानते भौतिक विज्ञान का खंडन कभी नहीं करते उपेक्षा भी नहीं करते अनिवार्य मानते सभी दर्शनों में मिलेगा आपको <laughs> सभी उपनिषदों में मिलेगा आपको पर अंतर कहते ये अपरा विद्या है भौतिक विज्ञान वो पराविद्या है अपरा विद्या भौतिक विज्ञान परा विद्या का साधन है ये अंतर दो विद्या दो विद्याएं जाननी चाहिए पराच अपराच है पराविद्या जिसे आत्मा परमात्मा जाना जाए अपराविद्या भौतिक विज्ञान है शारीरिक विज्ञान जितने भी विज्ञान भौतिक है वो अपराविद्या है वो इसको आवश्यक मानते हैं अपराविद्या को अपराविद्या उससे छोटी विद्या है ये वहां ले जाने का साधन है इतना ही केवल अंतर करते हैं यहाँ भौतिक विज्ञान ही सर्वोपरि है और आत्मा विज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है भौतिक वैज्ञानिकों का स्तर यह बन गया भूल यहां से हो गई तो आप इसके लिए प्रयास करें और आपने भौतिक विज्ञान में गति कर ली मान लो और अब आप भौतिक विज्ञान को साथ लेकर और आध्यात्मिक विज्ञान में गति करें तो भौतिक वैज्ञानिकों को आप समझा सकते हैं उनकी भाषा में उनके नियमों में उनके जो रूपरेखा है उसके आधार पर आप समझा सकते हैं क्योंकि आपने भौतिक विज्ञान की प्राप्ति कर ली अब आध्यात्मिक विज्ञान की प्राप्ति हो गई आप दोनों को मिलाकर के समझाइए उनको कुछ समझ में आ सकता है यदि भौतिक वैज्ञानिक लोग इस हमारी विद्या को जोड़ दे साथ तो विश्व का कल्याण हो जाए स्वर्ग भी मिले और मोक्ष भी मिले और वो नहीं मानेंगे तो नरक मिलेगा लौकिक सुख भी नहीं मिलेगा और महान बंधन भयंकर आपत्ति आएगी न तो लौकिक सुख मिलेगा और न मोक्ष सुख मिलेगा यदि इस बात को साथ नहीं जोड़ते तो ये परिणाम आज भी है आगे भी यही होगा अब विराम